ये तीन हमारे पास साधन है ये तीनों ही लगे रहना है जिस साधन को छोड़ देंगे वो कहीं ना कहीं कुछ गलत में लग जाएगा तो इसलिए बुद्धि को शास्त्र में लगाना मन को उपासना में लगाना और शरीर को सेवा में लगाना ये तीनों ही करते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे तो अगर जिस अंश को छोड़ देंगे वो विपद का कारण बन जाएगा कौन सा हम कितना करेंगे तो सामर्थ्य प्रदान करेंगे नहीं तो बुद्धि में इतना सामर्थ्य भी नहीं है दिन भर शास्त्र में बिता नहीं पाएगा और हम कहेंगे ना हम तो सर इसे नहीं करेंगे तो अर्थात वहाँ इतना गर्मी है कि पाँव ना तो नहीं रख पाएंगे और यहाँ से पाँव हटा देंगे वो तो कहा जाएगा ये सब समझ करके चलना है तो इसलिए बुद्धि के सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है ये शास्त्र में चलना है तो पानी पाँव रख करके दूसरे गाय में पाँव डालेंगे धीरे धीरे वहाँ दृढ़ कर लेंगे फिर यहाँ से पाँव स्वतः हो जाएगा जबरदस्ती कर लेंगे नहीं नहीं हम तो वहाँ पाँव रख लेंगे रख तो लेगा फिर देखेगा अरे इतना गर्मी है वहाँ तो रख नहीं पाएगा और पीछे का तो छूट ही गया है तो गिर जाएगा तो इसलिए देख करके धीरे धीरे अच्छा, हम लोग अष्टादश श्लोक देख रहे थे इसका उच्चारण करे थे

स्थान उपादान ग्रहण त्याग ये सब समाधान करने के ये सब व्यापार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं सो हम हमारी उपस्थिति से ही ये इंद्रिय इत्यादि सब कार्य करने लगते हैं टीका में देह शब्देन स्थूल सूक्ष्म शरीर धर्मित्व उपाधीये देहेन्द्रिया दयो भाव कहा गया तो देह शब्द से किसको लेंगे कहते स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों देह को लेना है ये सब क्या है कहते धर्मी इसमें धर्म रहेगा तो देह और इंद्रिय ये सब में धर्म रहेगा देह में ये मोटापन पतलापन गोरा काला ये सब ऊंचा नाटा ये सब धर्म रहेगा इस प्रकार सूक्ष्म शरीर मनो इंद्रिय ये सब सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे ये सब में रहेगा जो धर्म उपाधि उपाधि उपपूर्वक धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना उपादान उपादान होता है ग्रहण करना तो यहाँ उपाधि ऐसे का अर्थ ग्रहण किया जाता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यहाँ देह शब्द से ग्रहण किया जाता है श्लोक में जो दे दिया देहेन्द्रिया दयो भाव देह से स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर यहाँ स्थूल सूक्ष्म शरीरम ऐसा दे दिया कितने शरीर है यहाँ दो दो शरीर तो ये शरीर हो गया एक शब्द जो कि स्थूल के साथ अन्वय होगा ना सूक्ष्म के साथ अन्वय होगा दोनों के साथ होगा इस प्रकार स्थिति को कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों का बीच में पहले समास हो जाएगा बाद में शरीर के साथ समास होगा जैसे हम कहते हैं कि जो गणित करने का समय में हम लिखते हैं तीन धन दो लिख दिए फिर ब्रैकेट बना दिए पोस्टर बना दिए उसके बाहर में अगर पांच लिखते हैं वो पांच का अन्वय अंदर में ब्रैकेट का अंदर में तीन और दो और पोस्टर के बाहर में है पांच वो पांच का अन्वय तीन के साथ होगा ना दो के साथ होगा दोनों के साथ होता है इसी प्रकार की ये समान समान की है तो इसको कहते हैं में श्रूयमाणम पदम द्वंद समाज का अंतिम में जो पद श्रवण होगा वो प्रत्येक अभिसंबद्ध है प्रत्येकम अर्थात यहाँ प्रत्येक कौन कौन है सूर्य सूक्ष्म द्वंद्व अंत सूर्यमाण पदम द्वंद्व का अंत में सूर्यमाण पद यहाँ कौन है शरीर शरीर तो शरीर का अंग प्रत्येक अभिसंबद्ध प्रत्येक कौन है तो इसलिए स्थूल और सूक्ष्म में क्या समास हुआ द्वंद्व समास कैसा कहेंगे तो शरीर हम नपुंसक होने से स्थूल और सूक्ष्म कह सकते हैं तो पुंग में भी करते हैं शरीर शब्द दोनों लिंग में चलता है पुंग भी होगा नपुंसक भी होगा अच्छा, तो देह शब्द से यहाँ दोनों धर्मी धर्मी धर्मी का विग्रह कहते हैं धर्मो धर्मी फलों प्रत्यय होता है इन प्रत्यय होता है अभी कहते हैं आगे अनुमान देते हैं देह प्रवृत्ति चैतन्याधिष्ठान पूर्विका अचेतन प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्ति दोबारा देखिए देह प्रवृत्ति चैतन्याधिष्ठान पूर्विका सचेतन प्रवृत्ति स्वास्थ्य रथादि प्रवृत्ति बत इसमें दृष्टांत क्या हो गया रथादि प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्ति बत अंश को छोड़ देंगे बाकी जितना रह जाएगा वो दृष्टान्त हो जाएगा महानस बत कह देते हैं तो महानस दृष्टान्त हो जाएगा तो यहाँ दृष्टान्त क्या हो गया प्रवृत्ति प्रवृत्ति रथादि में प्रवृत्ति होती है रथ चलता है कभी तो बोले रथा आदि प्रवृत्ति ये हमारा दृष्टांत हो गया हेतु क्या है अचेतन प्रवृत्ति तुम यहाँ पंचमी दिया है हेतु पंचमी अथवा तृतीय तृतीया अथवा पंचमी के द्वारा हेतु कहा तो यहाँ हेतु क्या हो गया अचेतन प्रवृत्ति तुम ये हेतु को दृष्टांत में रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा अभी देखिए रथादि की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति चेतन की प्रवृत्ति ना अचेतन की प्रवृत्ति रथादि की जो प्रवृत्ति होती है रथ चलता है तो रथ का जो गमन है वो रथ का प्रवृत्ति घोड़े का गमन अलग है घोड़ा का प्रवृत्ति रथ में है क्या और घोड़ा में रहेगा तो ये जो रथादि में जो प्रवृत्ति हुई ये प्रवृत्ति चेतन का प्रवृत्ति ना अचेतन का प्रवृत्ति तभी रथादि प्रवृत्ति में अचेतन प्रवृत्ति तुम रहेगा रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि अचेतन अच्छा है अचेतन है का जो प्रवृत्ति है अचेतन प्रवृत्ति है इसलिए उसमें अचेतन प्रवृत्ति तुम ये रह जाएगा ठीक है अभी हमारा पक्ष क्या है देह प्रवृत्ति ही ये हो गया पक्ष और साध्य चैतन्य अधिष्ठान पूर्वी पूर्वी तत्व बन गया जब आगे तो आ जाएगा पूर्व में ये जो पूर्वी क है वो हट जाएगा और में जब तो आ जाएगा ये पूर्व में पूर्वी क ये ई का सूत्र से आएगा जनानंद जी है ना अधिष्ठान पूर्विका है ना ठीक है में किंच द्वितीय पंक्ति में जो श्लोक हाँ। होगा तो चैतन्य अधिष्ठान पूर्वी ये आकार क्या है स्त्रीलिंग होने से पूर्व में जो ई का आ जाएगा प्रत्यस्ता प्रत्ययस्थात का पूर्व से इधाप्य सुख ऐसे होता है जैसे हम कहते हैं कारक अगर स्त्रीलिंग हो जाएगा तो तो अगर स्त्रीलिंग हो गया पर में अजा तो हो जाएगा तो ताप होने से पूर्व में जो अकार है उसको ई का हो जाएगा अंतिम में ककार होना चाहिए उसके पर में अगर स्त्री में शब्द होकर के टाप हो जाएगा तो पूर्व में हम्म। अ को ई हो जाएगा तो ये कालिका चर्चिका पाचिका जब स्त्रीलिंग पाचक को गए स्त्रीलिंग हो जाएगा तो पाचिका और लेखक का स्त्री को क्या हो जाएगा लेखिका ऐसे हो जाता है इसी प्रकार देते हैं पूर्विका तो अभी जो पूर्विका होगा उसमें क्या धर्म रहेगा पूर्वी तत्व पूर्वी तत्व आ जाएगा ये जो धर्म होगा और वो कोई स्त्री नहीं है पूर्वी का स्त्री हो गया पूर्व का पुरुष होगा किंतु पुरुष में जो धर्म रहेगा स्त्री में धर्म जैसे मान लिया कि पाचकत्व एक धर्म हुआ वो धर्म कोई पुरुष पाचक होगा ना स्त्री पाचक होगा तो हो सकते हैं ये जो धर्म रहेगा पुरुष में जो धर्म रहेगा स्त्री में क्या अलग हो जाएगा पाचक तो धर्म तो दोनों में समान होगा किंतु तो स्त्री को कहेंगे पाचिका पुरुष को कहेंगे पाचक किन्तु दोनों में रहने वाला जो धर्म है पाचक तो समान इसलिए यहाँ हमने दे दिया चैतन्य अधिष्ठान पूर्विका जो इसका आगे पूर्व लगाएंगे क्या हो जाएगा चैतन्य अधिष्ठान पूर्व तत्व भी चला जाएगा ई भी चला जाएगा ई आया टाप के चलते प्रकाश चला जाएगा ये भी चला जाएगा कैसे तो नपुंसक होगा तो शब्द होगा स्त्री जहाँ तार होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा जहाँ तो होगा नपुंसक होगा घटत्व पटत्व नदीत्व पर्वतत्व जहाँ भी तो हो जाएगा नपुंसक होगा ये नहीं होगा

अभी हमको पहले दृष्टांत में क्या क्या रहना चाहिए हेतु और दृष्टांत में हेतु और क्या रहना चाहिए हाँ, साध्य रहना चाहिए क्यों दृष्टांत में हेतु साध्य रहता है हम दृष्टांत से क्या ग्रहण करते हैं व्याप्ति व्याप्ति ग्रहण करेंगे तो व्याप्ति किसका किसका बीच में होगा हेतु और साध्य का बीच में इसलिए दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों को रहना चाहिए अभी हमको देखना है हमारा दृष्टांत क्या हो गया प्रवृत्ति उसमें हेतु अचेतन प्रवृत्ति जो है अभी साध्य चैतन्य अधिष्ठान पूर्वकत्व चैतन्य अधिष्ठान पूर्वकत्व अर्थात तो उसका करने वाला कोई चैतन्य होना चाहिए अभी जो रथादि में प्रवृत्ति होती है उसको करने वाले उसके पीछे कोई चेतन है नहीं है, है? तो इसलिए कहा जाएगा कि रथादि प्रवृत्ति में भी चैतन्य अधिष्ठान पूर्वकत्व क्योंकि रथ का अधिष्ठान कोई चैतन्य है अधिष्ठान अर्थात उसका नीचे जमीन नहीं है अर्थात उसमें जो हो रहा है उसके पीछे होना चाहिए उसको अधिष्ठान कहा जाता है तभी रक्तादि प्रवृत्ति में चैतन्य अधिष्ठान पूर्वक आ गया हाँ। और हेतु अचेतन तो ये भी आ गया हाँ। अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र यत्र अचेतन यत्र यत्र अचेतन प्रवृत्ति अधिष्ठान ये व्यक्ति होगी तो अभी हम पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है देह प्रवृत्ति देह प्रवृत्ति में अचेतन प्रवृत्ति तो रहेगा देह चेतन है अचेतन है अचेतन है तो उसमें अचेतन प्रवृत्ति तो रहेगा रहेगा तो अभी किसको रहना पड़ेगा चेतन अचेतन प्रवृत्ति तो रहा हेतु रह गया तो साध्य को रहना पड़ेगा साध्य क्या है चैतन्य अधिष्ठान पूर्वकत्व अभी देह प्रवृत्ति में भी चैतन्य अधिष्ठान पूर्वकत्व आएगा अर्थात देह का जो प्रवृति हो रही है इसके पीछे भी कोई चेतन है ये निश्चय हो जाएगा ये अनुमान से इसी को जानना है जो हम कहते हैं कि मेरे से ऐसा हो गया मैंने ऐसा किया अभी कहता है मेरे से ऐसा हो गया तो अच्छा के लिए ऐसा कहता है ना गलती हो जाने से ऐसा कहता है गलती और कभी कहता है मैंने ऐसा किया ये कब कहता है अच्छा, अच्छा। तो ये दोनों में जो जिसको मैंने अथवा मेरे से कह दिया ये दोनों या तो शरीर में हुए नहीं तो मन में हुआ ये दोनों ये दोनों चेतन है ना अचेतन है अचेतन है इनका जो प्रवृत्ति हो रही है इसके पीछे कौन है नहीं वही मैं चैतन्य इनका प्रवृत्ति का पीछे मैं हूँ ये तो अभी हम क्या करते हैं इसका प्रवृत्ति को ही मेरा प्रवृत्ति मान लेते हैं तो मेरा प्रवृत्ति मानने से कभी तो ये ठीक हो गया तो सर्टिफिकेट मिल गया मेडल मिल गया कभी गलती हो गया तो दुख हुआ नहीं तो सपोर्ट मिल गया <laughs> ये सब दोनों प्रकार की होता तो उल्टा रहेगा तो ये दोनों से अलग रहना है ये तो ये जहाँ हुआ उसका हुआ अच्छा हुआ तो उसका हुआ खराब हुआ तो उसका हुआ हम क्या करते हैं इसका अच्छा को तो ले लेंगे और इसका खराब को ऐसा तो भूल नहीं पड़ेगा इसीलिए अच्छा को लेने का चक्कर में खराब को भी लेना पड़ता है इसलिए अच्छा को लेना छोड़ इस शरीर मन बुद्धि से जो अच्छा चीज हो जाता है उसको छोड़ देना है तो फिर देखिए खराब ही छूट जाएगा हाँ, नहीं तो अच्छा लेते रहेंगे तो छुटेगा नहीं इधर को पुलिस आता है ये सब इंद्रियों को कहा गया आपने ये काम करो जिसके चलते हम सबको इंद्रिय प्राप्त होगा वो इंद्रिय का काम किया किंतु उसमें जो अच्छा चीज वो अपने लिए रख दिया उसे असुर लोग आकर के उसको पाप से दुख कर दिया और अंतिम में प्राण को कहा गया कि आप हमारे लिए काम करो प्राण बिल्कुल कर दिया उसको कुछ अपने लिए रखना ही नहीं है तो फिर असुर लोग आए क्यों उनका संस्कार पड़ गया जो ये करेगा हम जाकर के उसको पापों से विद्ध करेंगे और प्राण के लिए भी आए प्राण को सिद्ध करने के लिए तो प्राण के ऊपर जब टकराए कहते वो सब टूट गए असुर ही टूट गए क्यों कहते प्राण तो आपने लिए कुछ रखा ही नहीं हमारा जीवन जिस दिन सौ प्रतिशत अपने लिए नहीं होगा उस दिन हम जीवन में सफल होंगे हमको देखना है आज का दिन में हम कितने अपने लिए करते हैं उतने हमारा बंधन है तो इसीलिए हमारा जीवन संपूर्ण रूप से दूसरों के लिए हो गया कि दूसरा कौन है इसके लिए ये सब कैसे शास्त्र निर्धारण करेगा हम कुछ भी करते हैं वो शास्त्र कहा है कर्तव्य करना है इस बुद्धि होना चाहिए हमको अगर उसे एक लेना है वही एक हमारा बनना चाहिए तो हमको सुबह से शाम तक हम जो भी कर रहे हैं देखना है कि ये हमारे लिए होगा ना दूसरों के लिए होगा दूसरों के लिए हो गया तो ठीक है किंतु तो दूसरों के लिए होने का समय मैंने दे दिया ये जो बुद्धि होगी तो ये अपने लिए होना दूसरे के लिए होना ये बंधन हो गया ये समझ रहे ना क्या चीज करें अर्थात दूसरों को दे करके मैंने दे दिया ये तो जो मैंने दे दिया ये दूसरों को दे नहीं पाए खुद तो अपने लिए कर रहे हैं वो बंधन हो जाएगा उस सबसे भी मुक्त रहना है तो शरीर मन बुद्धि से कुछ भी हो ये हमारा नहीं है इस प्रकार की बुद्धि रखेंगे तब तो ये सब काम ये जो वेदांत तो कहा जा रहा है ये सब चैतन्य अधिष्ठान पूर्वक तो ये सब देह इंद्रिय में कार्य होने वाला तो हम फिर उसे मुक्त हो अच्छा। रथादि प्रवृत्तिवत इति अनुमानांतरम आप देह से हम भिन्न है दो अनुमान दे दिया था ये देखिए ये पृष्ठा का टीका में प्रथम पंक्ति में था देहो नात्मा रूपादि मत्वात प्रथम पंक्ति में था ना टीका में वो तो एक अनुमान था दूसरा अनुमान प्रथम पंक्ति में था देहो नात्मा भौतिक कुंभवत टीका का प्रथम पंक्ति में ये दो अनुमान पहले दिया गया था वो तो अनुमान आगे पीछे हो गया है देहो नात्मा रूप आदि आदि प्रथम अनुमान है और देहो नात्मा भौतिक दूसरा अनुमान था अभी तीसरा अनुमान दे रहे हैं इसलिए टीका में कहा देह प्रवृत्ति चैतन्य अधिष्ठान पूर्विका अचेतन प्रवृत्तिवाद रथाधिवत रथाधि प्रवृत्तिवत इति अनुमानांतरम ये कितना अनुमान है ये तीसरा तीसरा तो इसलिए वहाँ क ख ये ग हो जाएगा नहीं तो अनुमानांतर ये आसपास में नहीं है फिर कुछ तो रहना पड़ेगा तो अभी श्लोक है यश सन्निधि मात्र जिसका केवल उपस्थिति मात्र से है तो टीका में कहते हैं मात्र शब्द अवधारण अवधारण था एव न एव बस वो केवल विद्यमान होता है सूर्य पूरा जगत का प्रवृत्ति का निमित्त बन जाता है सभी को प्रवृत्त करवा देता है कहते फिर सूर्य फिर टूट करता रहता है तो सूर्य के जगत का पूरा प्रवृत्ति करवा देता है सूर्य को करता रहता है फिर वो कुछ नहीं करता कहते सन्निधि मात्र है इसी प्रकार की आत्म चैतन्य का हमारा सन्निधि मात्र से भी इंद्रिय के लिए काम करता है ठीक है चेतन से यश सन्निधि न एवं हाँ, जो का मात्र शब्द अवधारण है अवधारण को एवकार से कहते हैं उसी को आगे दिखा रहे हैं यश्य सन्निधि मात्र कहा गया यश अर्थ चेतन से यश्य चेतन से सन्निधि मात्र सन्निधि में तृतीया है इसलिए सन्निधि न एवं एवकार मात्र स्थान उपादान व्यापार समर्था स्यु स्थान उपादान हान त्याग उपादान ग्रहण त्याग ग्रहण इत्यादि व्यापार समर्था स्यु जिस चैतन्य का विद्यमान मात्र से हान उपादान व्यापार ये सब करते हैं कौन करते हैं श्लोक में किसको दिया देहेन्द्रिया देहेन्द्रिया समर्था शिव इसके द्वारा क्या हुआ कहते हैं देहेन्द्रियादि आत्मा का सन्निधि से व्यापार करते हैं उससे क्या सिद्ध हुआ एतेन देहेन्द्रियादि नाम सकटाधिवत अचेतन अचेतन देह इंद्रिय इत्यादि सब सपट जैसा अचेतन है तो ये दिखाया गया हाँ, ये दस लोग उच्चारण करेंगे क्षमा यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहमित्यवधारय ननु स्वगत विकारोतो में जो प्रवृत्ति हुई वहाँ चेतन अधिष्ठान कौन हुआ रक्त चालक अथवा तो अशुभ तो ये हो जाएंगे तो जो अश्व अथवा रथ चालक ये लोग में कुछ व्यापार हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है तो अश्व चालक रथ रथ चालक और अश्व ये सब स्वयं व्यापारी है ना उनका सन्निधि मात्र से हो जाता है व्यापारी है तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि आप जिसको दृष्टान्त दिए और जिसको दाक्षांति को बना रहे हैं ये दोनों में कहा समान है तो स्वगत विकार अर्थात अपने में विकार है स्वस्मिन तो गत यदि स्वगत अपने में गया हुआ क्या कहते विकार विकार वाला स्वगत विकार मत अथवा सारथ्य सारथिन से प्रवर्तक को प्रतिपत्ते रथादि में प्रवर्तक अश्व और सारथी है वो दोनों में स्वगत विकार हो रहा है हो रहा है होने से आत्मा देहादि प्रवर्तक हाँ, आपने कह दिया कि आत्मा देहादि का प्रवर्तक है तभी आत्मा में भी क्या होना पड़ेगा विकार होना पड़ेगा क्योंकि जो प्रवर्तक होता है उसमें विकार होता है जैसे आप कहते हैं कहते आप ही ने तो दृष्टांत दिया हम कहाँ कहा आप ही तो रथादि प्रवृत्ति को दिखा है तो उसमें जो प्रवर्तक होते हैं वो तो विकार वाले होते हैं देहादि प्रवर्तक आत्मनो देहादि प्रवर्तक सविक्रियत्व देखिए आत्मन क्या विधि हो जाएगी ष्ठी आत्मन सविक्रियत्व तो सत्य हटा से आत्मा सविक्रिय आत्मा सविक्रिय क्यों हो गया बीच में हेतु दे दिए इसलिए हो गया तो देहादि प्रवर्तक कौन हुआ आत्मा आत्मा देहादि प्रवर्तक आत्मा देहादि प्रवर्तक है तो आत्मा आत्मनो देहादि प्रवर्तक और ये आत्मनो का अन्वय देहादि प्रवर्तक के साथ भी हुआ सभी सविक्रियत्व के साथ भी हुआ तो ये आत्मा सविक्रिय भी है और आत्मा देहादि प्रवर्तक भी है तो अभी आत्मनो एक षष्टी दोनों दो के साथ बना कहते एक दो तो निमित्त है दूसरे को भी प्रथम तो हो गया देहादि प्रवर्तक और दूसरा तो कौन हो गया सभी क्रिया तुम तो, ये सभी क्रिया तो क्यों हो गया क्योंकि वो दृष्टांत क्योंकि प्रवर्तक है प्रवर्तक सभी क्रिया तो क्यों आ गया आत्मा में पंक्ति देखकर बोले देहादि प्रवर्तक देहादि प्रवर्तक ना क्योंकि आत्मा में देहादी प्रवर्तक तो आ गया इसलिए आत्मा में क्या आएगा सभी क्रिया तो आएगा तो आत्मा में भी देहादि प्रवर्तकत्व तो है ना सभी क्रिया तो है दोनों ही है तो इसमें कार्य कौन है कारण कौन है कार्य सब और कारण देहादि प्रवर्तकत्व है तो देहादि तो आने से सभी क्रियत्व आ गया अभी पूर्व पक्ष ने ये अनुमान देता है यहाँ क्यों कहते हैं आप रथादि में दिखाए जो भी प्रवर्तक होता है वो सभी क्रिय होता है पूर्वमुखी क्योंकि देहादि प्रवर्तक सब क्रियत्व ये आत्मा में आ गया अभी देखिए यहाँ धूम और बनी हमको बनी ज्ञान हो रहा है पर्वत में कारण क्या किससे बनी ज्ञान हुआ पर्वत में बनी ज्ञान हुआ किससे हुआ धूम के कारण धूम के कारण धूम के कारण पर्वत में धुआं है आप इस तरफ देख रहे हैं आपको बनी ज्ञान हो जाएगा तो बनी ज्ञान का कारण कौन हुआ धूमो हाँ। तो का ज्ञान होने से बनी का ज्ञान होगा ना धूमो होने से बनी ज्ञान हो जाएगा धूमो ज्ञान होने से बनी ज्ञान होगा तो अभी यहाँ धूमो हम कह देंगे धूमो है हेतु ध्वनि हो गया हमारा ये अनुमिति का तो धूम हेतु हम कह देते हैं अर्थात धूम ज्ञान यहाँ हेतु बना इसलिए यहाँ जो धूम हुआ ये हेतु होता है इसको कहते हैं ज्ञापक हेतु धूम का ज्ञान होने से बनी का ज्ञान होगा और बनी और धूम में वास्तव में कौन कारण है बनी तो वहां कहते हैं वो जनक कारण है बनी जनक कारण है किसका धूम का और धूम ज्ञापक कारण है बनी का इसलिए धूम को जो हेतु कह देते हैं ज्ञापक है वो जनक नहीं है तो बनी हो गया जनक और धूम हो गया ज्ञापक दोनों ही हेतु है दोनों ही कारण है इसी प्रकार की यहाँ देखे आत्मा में भी देहादी प्रवर्तक तो भी आया और सविक्रियत्व तो भी आया देखिए अभी आत्मा में पहले विक्रिया होने से देहादी का प्रवर्तक होगा ना देहादि का प्रवर्तक होने से आत्मा में विक्रिया होगी जो अश्व अश्व में विक्रिया होने से रथ में गति होगी ना रथ में गति होने से अश्व में विक्रिया होगी अश्व में विक्रिया होने से रथ में गति होगी अश्व में विक्रिया होने से रथ में गति होगी इसी प्रकार की यहाँ हाँ, आत्मा में विक्रिया होने से तो अभी आत्मा में विक्रिया होने से आत्मा सविक्रिय होगा निर्विक्रिय होगा तो यहाँ सविक्रिय को तो होने से देहादि प्रवर्तक बनेगा ना देहादि प्रवर्तक बनने से सविक्रिय तो होगा देहादि प्रवर्तक होगा ये स्पष्ट है तो वास्तविक कारण कौन हो गया सविक्रिय तो कारण हुआ किंतु देहादि प्रवर्तक तीन में तृतीय हेतु दिया गया ज्ञापक ये ज्ञापक देहादि का प्रवृत्ति देख करके ये ज्ञापक हो गया दोनों को देख करके हम बनी का निरूपण कर लेते हैं इसी प्रकार की देहादि का प्रवृत्ति को देख करके हम आत्मा में सभी तो का अनुमान कर लेते हैं तो क्रिय तो वास्तव कारण है किसी का देहादि प्रवृत्ति का और देहादि प्रवर्तक तो ये ज्ञापक कारण होता है किसी का सभी तो सभी तो कहा आत्मा तो तो कारण दो प्रकार की हुए एक जनक कारण ज्ञापक कारण तो पूर्व पक्षी अभी कहा अगर देहादि का प्रवृत्ति दिखता है तब तो आत्मा को प्रिय मानना पड़ेगा ऐसे पूर्व पक्षी कहा इत्यादि इति आशंक्य ऐसे आशंका कौन किया पूर्व पक्षी करके प्रवर्तक तो आत्मा में आया और विक्रिया तो आत्मा में आया वास्तव में हम अभी जनक हेतु किसको बनाए विक्रिया वस्तु और जनक मतलब कार्य हो गया जनक जनक कौन हुआ क्या होने से क्या होता है हाँ, विकार होने से विकार होने से आगे क्या हो जाएगा तो जहाँ प्रवर्तकत्व तो दिखेगा वहाँ निश्चित रूप से क्या हुआ होगा विक्रिया होगा तो सिद्धांत कहता है कि प्रवर्तकत्व विक्रियावत्व का व्याप्य नहीं है ये जो प्रवर्तकत्व जैसे कहते हैं ध्रुवेन बनी ज्ञान हुआ इसलिए प्रवर्तक प्रवर्तकत्व आप कहते हैं विक्रियावत्व होगा अगर जहाँ जहाँ प्रवर्तकत्व रहेगा वहाँ वहाँ विक्रियावत्व रहना है ऐसा अगर निश्चय कर देंगे तब कहेंगे कि जहाँ प्रवर्तकत्व रहेगा वहाँ विक्रियावत्व रहेगा तो प्रवर्तकत्व हो गया दोनों के स्थान पर तो जहाँ जहाँ दोनों रहेगा वहाँ वहाँ बनी रहना पड़ेगा इसी प्रकार की प्रवर्तक तो जहाँ रहेगा विक्रियावत्व तो वहाँ होगा सिद्धांत कहते हैं न होती प्रवर्तक विक्रिया वस्तु का व्याप्त न होती विक्रिया वस्तु का व्याप्त ष्टी है वहाँ प्रवर्तक विक्रिया वस्तु का व्याप्त नहीं होता है कैसे जैसे कोई कहेगा कि पर्वतो धूमवान क्यों कहते बन्ने रात में पर्वत में बंदी दिखेगी ना धुआं दिखेगा हाँ, बंदी दिखेगा तो कोई अनुमान करेगा पर्वत धुमवान क्यों बने हाँ, बंदी दिखती है उसमें धुआं भी वहां होना चाहिए ये दूसरा आदमी मान लेगा वो जानता होगा कि नहीं पर्वत में होता है तो धुआं होगा वो अलग बात है अगर जब अनुमिति किया जाता है तो, तो पहला बात उसको पहले से ज्ञान नहीं है गया धूमो होने से बनी की धूमो होने से वहाँ बनी को होना बनी होने से वहाँ धूमो को होना पड़ेगा ऐसा क्यों बनी होने से धूमो नहीं भी हो सकता है ऐसा कहाँ दिखाएंगे तो सिद्धांत कहता है कि इसी प्रकार की आप नहीं कह पाएंगे कि धूमो बनी है तो धूमो होगा ही अयोगलोक में विचार हो जाएगा इसी प्रकार की तो रहेगा तो तो होना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कर पाएंगे प्राणा के विचार दिखाए कहते हैं अयस्कांत अयस्कांत मणि चुंबक चुंबक के पास में अगर लोह कण रखेंगे तो लोह कण में ये प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो जाएगी ये तो अयस्कांत मणि में हिलेगा नहीं हिलेगा कहते हैं अयस्कांत विचार तो विचार हो गया तो ये विचार स्थल हुआ अर्थात अयस्कांत में प्रवर्तकत्व रहा कि तो विक्रियावत्व नहीं रहा इसलिए जहाँ प्रवर्तक तो रहेगा वहाँ विक्रिया हो तो रहेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं विचार हुआ कहता है और इस कांतमणि में विचार हो गया श्लोक पूर्व पृष्ठा है अनापन्न विकारहसम् अयस्कान्तवदेवयः अयस्कान्तवदेवयः

अनापन्न विकार सन यह अयस्कांतवदेव अनापन्न विकार सन उत्तराध में जैसा है बुद्धियादि चालयेत सो प्रत्येक अहम इति अवधार्य प्रत्येक सो अहम इति अवधार्य यह अयस्कांत पद बीच में जैसा दे दिया चुंबक जैसा अनापन्न विकार सन अनापन्न विकार होकर के अनापन्न विकार में बहुरे हैं कैसा कहेंगे तो जिसमें विकार की प्राप्ति नहीं हुआ है न आपन्न की अनापन्न जिसमें विकार का प्राप्त नहीं प्राप्ति नहीं हुई है अनापन्न विकार सन यह बुद्धियादि चाले बुद्धियादि को चलाता है तो स्व प्रत्येक अहम वही प्रत्येगात्म है कोई विकार को प्राप्त नहीं हो करके बुद्धि आदि को जो तो चलाता है तो बुद्धि आदि का दृष्टा हम होने लगेंगे तो बुद्धि आदि कुछ भी करे कभी अच्छा कर देता है कभी खराब कर देता है तो ये सब का हम दृष्टा बन जाएंगे किंतु जब हमको बुद्धि का सत्कर्म से हमको मेडल लेना है तब तो हम उसका फिर दृष्टा साक्षी बनेंगे इसलिए ये जो मेडल जिससे एकदम पहले घट जाना है जीवन में कोई मेडल नहीं चाहिए ये पहले होना चाहिए तभी तो जाकर के सब नहीं तो भ्रष्टा कभी होगा नहीं हमेशा मैदान में चलता ही रहेगा तो भाई मैदान छोड़ करके गैलरी में बैठ करके खेल देखो खेलने में जो मजा है ना क्यों खेलने में इतने लोग देख रहे हैं जो गैलरी में बैठ करके देखेगा उसको कोई देखेंगे हम्म। तो जिसका ये बुद्धि है कि हमको तो लोग देखना चाहिए अर्थात जगत में महत्व बुद्धि है वो मैदान में रहेगा ना गैलरी में रहेगा इसलिए मैदान में उतरना बुद्धि छोड़ देना है पहले से हमेशा गैलरी में बैठो चुप तो कोई नहीं देखेगा कहीं देखने का जरूरत नहीं देखेगा तो सब बुद्धियादि चालयत प्रत्यक अर्थात ये सब केवल स्थिर रह करके बुद्धियादि का चलने का निमित्त बनता है वास्तविक वो कोई चलाना नहीं करता है मणि नहीं चाहता कि ये सब मतलब वयस्कांत मणि चुंबक चुंबक नहीं चाहता कि ये सब जो लोह का दाना है वो सब आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उसको तो ये नहीं है उसका स्वभाव ऐसा है इसी प्रकार की योजना है ये सब हो रहा है बस ऐसे हो रहा है ये उन्नीस कार्यक्रम चरण करेंगे

और हमको घट ज्ञान हुआ तो ज्ञान को प्रत्यय शब्द से कहते हैं तो हो गया घट प्रत्यय घट प्रत्यय का आलम्बन कौन हुआ घट हुआ इसी प्रकार की अहम प्रत्यय का आलम्बन जब अहम कहते हैं इसका विषय क्या है कहते आत्मा ये अभिवाद है इसमें कोई विवाद नहीं सभी लोग कहते हैं तो देहादि नाम से अहम प्रत्यय आलम्बन जो कहता है कि मैं मोटा हूँ मैं बीमार हूँ ऐसा जो कहता है तो इसका आलम्बन किसको बना रहा है देह को बना रहा है देहादी नाम और कभी कहता है कि तो मेरे को तो अभी इतना भूख हो रहा है किसको आलम्बन बना रहा है प्राण जो क्षुधा और प्यासा ये प्राण का तो प्राण को अर्थात वहाँ जब कहता है कि मेरे को भूख हो रहा है अर्थात मैं शब्द से किसको कर रहे हैं प्राण को कर रहे हैं और जब कहते हैं कि मेरे को सब चीज याद हो जाता है अथवा मेरे को तो, तो कुछ याद ही नहीं होता है तो मैं शब्द से मन को कहा जो याद रखना है ये सब मेरे को सब समझ में आ जाता है अथवा मेरे को तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आया ये बुद्धि को नहीं तो मैंने एकदम ठीक निर्णय लिया अथवा मेरे निर्णय तो सब गड़बड़ हो जाता है भाई ये किसको कहता है बुद्धि को कहता है तो ये सब मैं का आलम्बन ये सबको तो बनाता है सूर्य को कहता है देहादीनम आदि शब्द से प्राण ये सब गया तो देहादीनम च अहम प्रत्यय आलम्बन अहम प्रत्यय तो अहम प्रत्यय में जैसे घट ज्ञान समाज कैसे है इसी प्रकार की अहम प्रत्यय अर्थात अहम प्रत्यय या अहम अर्थात मद विषय को प्रत्यय आगे आलम्बन के साथ क्या समाज होगा हाँ। कर्म द्वारा नहीं जैसे हम अहम प्रत्यय से लेंगे घट ज्ञान घट ज्ञान आलम्बन कौन होता है घट क्या समझते हैं तो अहम प्रत्यय आलम्बन सब हो जाएंगे तो अहम प्रत्यय अहम कहने से शब्द स्वरूप होता है तो अहम प्रत्यय से आलम्बनम तो अहम प्रत्यय आलम्बन किसको बनाया जाता है लोक में देहादि को तो देहादि अभी अहम कहेगा कि कोई कहता है कि मैं जड़ हूँ नहीं नहीं कहता है तो अभी अहम प्रत्यय कहेगा कि मैं तो चेतन हूँ किंतु तो आलम्बन किसको बनाया देहादि नाम से अहम प्रत्यय आलम्बन चेतन को होगा क्योंकि मैं चेतन हूँ और मैं तो कहने से देहादि के लिया जाता है होने से न तद व्यतिरिक्त आत्मसिद्धि तो इसलिए देहादि से व्यतिरिक्त आत्मसिद्धि तद व्यतिरिक्त तद का अर्थ देहादि देहादि से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है इसका सिद्धि कैसे होगा क्योंकि अहम प्रत्यय का हो गया देहादि और वही जो तो चेतन है क्योंकि मैं चेतन हूँ उससे अतिरिक्त कोई आत्मा है ऐसा कैसे सिद्ध होगा तद व्यतिरिक्त आत्मा तद से देहादि देहादि जो व्यतिरिक्त पंचमी व्यतिरिक्त इत्यादि कहेंगे पंचमी लेना होगा क्योंकि वहाँ एक प्रकार की अवधि आ रहा है इससे पूर्व पश्चिम ये सब अवधि वाचक होने से पंचम हो जाएगा तो तद व्यतिरिक्त कैसे समाज कहेंगे हाँ, बहुत हो गए तो तेभ्यो हो जाएगा देगा तेभ्यो व्यतिरिक्त अभी तेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा इसमें क्या समाज होगा हाँ, कर्मधारय उनसे व्यतिरिक्त ये आत्मा क्योंकि आत्मा को देहादि से व्यतिरिक्त कह रहे हैं तद व्यतिरिक्त देहादि व्यतिरिक्त देहादि व्यतिरिक्त कौन कहते हैं आत्मा ये कैसे सिद्ध होगा देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा ये कैसे सिद्ध होगा क्योंकि आत्मा का तो मैं मैं तो चेतन जहाँ लगता है देहादि में चेतन नहीं लगता है ये तो हम प्रत्येक का आरोपण होता है तो उससे व्यतिरिक्त आत्मा ये कैसे सिद्ध होगा तो तद व्यतिरिक्त आत्मा आगे आत्मा सिद्धि यहाँ क्या समाज हो जाएगा तद व्यतिरिक्त आत्मन सिद्धि इति आशंक्य आह प्रकरण ग्रंथ इसलिए पढ़ा जाता है कि पद पदार्थ ज्ञान समास व्याकरण ये सब क्योंकि प्रकरण ग्रंथ कौन पढ़ते हैं जिनको भाष्य इत्यादि का ग्रहण नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है पद पदार्थ इत्यादि का इतना ज्ञान इतना संस्कार नहीं है तो इसलिए जब प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं तो यही सब ज्ञान करने के लिए हमारा बुद्धि में अभी उतनी बुद्धि उत्पत्ति नहीं हुआ है क्योंकि भाष्य जब चलेगा वहाँ ऐसे समाधान नहीं दिखाएंगे वहाँ फिर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो तात्पर्य कुछ अलग है तो इसलिए प्रकरण ग्रंथ इसलिए प्रकरण ग्रंथ तो उनके लिए है जिनके लिए भाष्य नहीं हो पा रहा कठिन लग रहा है तो तो फिर ये पढ़ते पढ़ते जब हमारा सामर्थ्य आ जाता है फिर हम भाष्य समझते हैं इसलिए प्रकरण ग्रंथ नहीं कि प्रकरण ग्रंथ तो सब भाष्य कहते चलो कथा जैसे सामने वाला सुनते चले वो नहीं है बुद्धि को विकास कराना ही प्रकरण मंत्र का कार्य है नहीं तो, तो सामान्यतः क्या होगा प्रकरण मंत्र पढ़ाया जाता है बस वो तो क्या है कहते हैं सुनते हैं बस बुरा होता है सब तो निर्ध्यासन होता है क्यों मैं ब्रह्म कहने वाला है ब्रह्म सुनने वाला है ब्रह्म सब ब्रह्म होगी बस तो वो वो हटा करके फल लिखना क्या हो जाएगा सब ब्रह्म हो जाएगा इस प्रकार के नहीं इसमें न्याय व्याकरण इत्यादि खूब विचार होकर हमारा बुद्धि की विकास हो जाए ताकि हम भाष्य का तात्पर्य को ग्रहण कर तद व्यतिरिक्त आत्म सिद्धि आत्म और सिद्धि में क्या समझ हो जाएगा आत्म सिद्धि कैसी होगी यदि आसंख्य आसंख्य अर्थात आशंका उद्भाव्य तो आपको जब ऐसा आशंका दिखा करके आप तो यहाँ असमापी का क्रिया हो गया आशंक्य और समापी का क्रिया आह कहा ऐसे आशंका को दिखा करके कहा क्या कहा कहते हैं बन्या भाषा यह पिंडे गगति प्रत्यय बन्ही आभास बन्ही का आभास आभास अर्थात आभाष्यते इति आभास अर्थात ठीक आभास आभास आभास का आभास है जिसमें अर्थात बंदी अभी अयपिंड में जो बंदी आ जाता है हम कहते हैं बंदी का आभास इसमें आ गया तो जैसे दर्पण में अगर प्रकाश का आ जाएगा सूर्य है सूर्य दर्पण में आ जाता है सूर्य का प्रकाश आ जाता है आ जाने से दर्पण प्रकाश ही दिखता है इसी प्रकार की बनी तो बनी है ये अय पिंड में वास्तव बनी आ जाता है ना बनी का जो ताप इत्यादि आ जाते हैं ताप इत्यादि इसलिए कहते हैं कि बनी का आवास जिसमें तो बनी आवास बनी आवास कहाँ आ गया अय पिंड में तो बन्ही आवास हो यशमिन कश्मीन अय पिंड स अय आवास संज्ञा वच और पिंड में क्या समाज करेंगे कर्मधारा जो बन्यावास है बन्हे आवास तो यस्मिन कस्मिन तो अभी अयपिंड को कहेंगे बन्यावास तो बन्यावास और अयपिंड ये दोनों एक ही है नहीं है हाँ। एक ही है तो क्या समझ हो जाएगा तो जो बन्यावास है वही अयपिंड है बन्हेर आवास यशमिन तस्मिन इसलिए अय पिंड क्या हो जाएगा अन्यावास अभी बन्यावास और अय पिंड ये दोनों में क्रम तो बन्यावास अय पिंड उसमें दहती प्रत्यय दहती ये अय पिंड दहती ऐसे ज्ञान होता है नहीं होता है होता है किंतु ये अय तो, पिंड में अय पिंड बनी है क्या नहीं है तो बनी का आवास को प्राप्त करके भी अय पिंड दहती ऐसे जैसे प्रत्यय होता है प्रत्ययवत आत्मव्याप्तेशु देहादिशु अहम प्रत्यय प्रवृत्ति संभव आत्मा के द्वारा व्याप्त हुआ देहादि आत्मा के द्वारा व्याप्त होता है अर्थात आत्म चैतन्य की व्याप्ति होती है जैसे कहेंगे सूर्य का प्रकाश आ गया एक दर्पण में और उस दर्पण के सामने और एक दर्पण रखेंगे अभी वो दर्पण भी प्रकाशित होगा अभी इसी प्रकार की चलेगा नहीं तो कहते हैं कि जो घंटी होता था ना पूर्व काल में तो उसका कांच होता था वो कांच के बाहर में आप आके रंग कागज लगा देंगे पॉलिथिन उसके बाहर में और दो दिन लगा देंगे वो प्रकाश बाहर तक आएगा नहीं आएगा लगाएंगे मान लीजिए कि जोर सकता है <laughs> कोई कम नहीं होता है उसके ऊपर कागज नहीं जैसे पॉलिथिन रंगीन पॉलिथिन लगाने से पूर्व समय जो नाटक होता था ना तो वो सब मतलब कांच के ऊपर रंगीन पॉलिथीन सब लगाया जाता था तो ये सब आजकल तो देखने नहीं मिलता है ध्यान नहीं पाएंगे सब तो वो सब लगाया जाता था बाहर तक तो प्रकाश आएगा दिखेगा तो इसी प्रकार के हैं देहादिशु अहम प्रवृत्ति संभव क्यों आत्मा के द्वारा व्याप्त हुआ तो हम जो चैतन्य है वो चैतन्य ये सब के द्वारा आगे आगे चलेगा जितना दूर तक वो चला जाएगा जहाँ तक उसको मिलेगा वो भी वहां तक जाएगा आत्म व्याप्तेशु आत्मना व्याप्त आत्मव्याप्त आत्मा के द्वारा व्याप्त हो गए आत्मव्याप्तेशु देहादिशु तो आत्मव्याप्त कौन हो गए देहादि वो सब में अहम प्रत्यय प्रवृत्ति समूहवाद अहम प्रत्यय की प्रवृत्ति हो जाएगी तो कहा देहादिशु क्यों आत्मा के द्वारा व्याप्त हो गए जो आत्मा के द्वारा व्याप्त हो जाएंगे उसमें अहम प्रत्यय हो जाएगा आज बहुत ज्यादा आसक्ति रहता है हैं घर द्वार में भी आत्मा तो हो जाता है तो घर द्वार टूट गया बह गया तो कहेगा मैं घर गया क्यों कहते हैं आत्मव्याप्ति उसका घर द्वार तक हो गया तो इस प्रकार की होना चाहिए ये सब आत्मव्याप्ति इसलिए क्या करना है आत्मव्याप्ति को हटा हटा करके शरीर तक पहुंचा देना है आगे फिर यहाँ से भी हटा करके जो आत्मा है वास्तव व्याप्ति उसका शून्य कर देना है फैलना नहीं है आत्मा को फैलना नहीं है जहाँ है बस वही हो व्याप्ति बढ़ाना नहीं है आत्मा आत्मव्याप्तेशु देहादिशु अहम प्रत्येक प्रवृत्ति संभव इसलिए अतिरिक्त आत्म सिद्धि अविरुद्धा आत्मा की सिद्धि अर्थात अतिरिक्त है आत्मा इस देहादि से भिन्न है ये सिद्ध हो जाएगा आज यहाँ तक श्लोक हम लोग देखे नहीं खाली टीका तो हो जाएगा अच्छा ये आगे तो फिर जाति के श्लोक एक मिनट में देखेगा

स्वअहम इति अवधारण जिसका सानिध्य से ही सानिध्य का पास में रहने पर ये जड़ा अभी देहेन्द्रिय मनोप्राण ये देहेन्द्रिय मनोप्राण ये जब जड़ है चेतन है जड़ है जड़ होने पर भी अजड़ आत्मावत आभांति अजड़ आत्मा जैसा लगते हैं मैं तो यही हूँ कहता है कहते सो अहम जिसके होने पर सानिध्य मात्र से ये जड़ भी सब चेतन होते हैं ये वेदांत का साथ और जो आप कथा सुनेंगे ये भगवान जन्म हो गए इसलिए जो सब दरवाजा जड़त थे वो सब चेतन हो गए ये जब सब सांकर लगा हुआ था हाथ पांव में वो सब जड़त थे वो सब क्या हो गया खुल गया जब ये ग्रहण नहीं होगा वो सुनना पड़ेगा और सुन करके वो मान लेगा अभी की बालक जैसा मानता है परमात्मा आ गए ये संभव नहीं होगा तो ज्ञानी वहां पास में बैठे भाई आप मानेंगे तो जगत का सब कुछ संभव है क्योंकि हमारी तो कल्पना है ये जगत आप मानने लगेंगे तो ये सब होगा ये अंतर अर्थात वहां हम सुन लेते हैं कथा बिल्कुल कहने भी लगेंगे दो चार बार सुनने से फिर आगे वो नहीं कहेगा ऐसा कहेगा तो चेतन का आविर्भाव होने से नहीं जड़ भी सब चेतन हो गए परमात्मा है ये सब ये इसका तात्पर्य यहाँ है वो सबको पानी पर वो सब दृष्टांत देते हैं दृष्टांत सुनते सुनते थोड़ा संस्कार होने से दो चार बनने के बाद ठीक तो है